आगम वाक्य से ब्रह्म का तो निश्चय होता है और तर्क के आधार पर भी निश्चय हो सकता है जैसे तूलक तूल को देख करके कोई उसका वृक्ष है तूल जहाँ से आया कार्य को देख करके कारण का अनुमान किया जाता है ये संसार रूप कार्य रूप कार्य को कोई वृक्ष रूप कल्पना करके उसका मूल कारण का निश्चय करने के लिए यह आरंभ किया गया ऊर्धमूल बाघ शाख स्वस्वत्त सनातन ये संसार को एक वृक्ष कहा वृक्षवत उसने कुछ उदाहरण दिया था कदल स्तंभवत निस्सार अनेक सत पाखंड बुद्धि विकल्पास्पद तत्व जिज्ञासुवीर अनिर्धारित दंतत्व यहाँ तक हुआ था क्या टीका में टीका नहीं था टीका में हुआ गया था क्या प्रसिद्ध वृक्ष स्थानुर्वा पुरुषवा इति विकल्पास्पद दृष्ट तथा अयम अपनी संका तो वह परिणाम वा आरब्धो वा सद्वा सद्वा सद्वा इत्यादीना अनेकेशा शतसंख्यक पाखंड बुद्धि विकल्पाना विषय इत्यर्थ अनेक सत्व पाखंड बुद्धि विकल्पास्पद भाष्य माया कोई वृक्ष है प्रसिद्ध वृक्ष स्थानुर्वा पुरुषवा कभी अंधकार में ये तो कोई ठूंठ है अथवा कोई पुरुष खड़ा है विकल्प का विषय होता है विकल्पास्पद होता है दिखा गया बाद में देखते हैं नहीं वो तो पेड़ का ठूंठ है कोई आदमी नहीं है ऐसे कभी होता है तथा अयमेपि संघातो व ऐसे संसार वृक्ष के लिए भी ऐसे ही संशय होता है ये क्या है कोई भी कार्य इसके विषय में मतभेद है संसार वृक्ष है मकान पर्वत आदि है बौद्ध लोग कहते परमाणु का संघात परमाणु का समुदाय एकटी है कोई कार्य नाम कुछ ही नहीं संघात सांख्य लोग कहते संघात नहीं तो परिणाम है परिणाम अद तो सांख्यादि पक्ष ये हम्म, माया को प्रधान शब्द से कहते त्रिगुणात्मक सत्वरजस्तम तीन गुण के साम्य अवस्था है प्रधान उसमें परिणाम होता है उसी प्रधान का परिणाम जगत ही कभी साम्य परिणाम कभी विषम परिणाम परिणाम होकर सृष्टि होती फिर प्रलय होता है ये सब प्रपंच प्रधान का परिणाम है पुरुष अत निर्लेप सांख्य मानते प्रधान का परिणाम और आरब्ध परिणाम व आरब्ध व और नए के लोग तो कहते हैं कि कार्य आरंभ हुआ परमाणु पृथ्वी जल तेज वायु का परमाणु से पहले नहीं था नया कार्य बना पटवी तंतु में से पट नाम के के पहले था नहीं था बना आरंभ हुआ बाद कणभक्ष कणभक्ष पक्ष संघातवादस्तु भदंत पक्ष भदंते बौद्धम संघातवाद सांख्यादि पक्ष परिणामवाद वेदांत पक्षस्तु अं, अं, अं, विवर्तवाद वेदांत मत विवर्त यह भी नहीं कहा वो कहते रज में जैसे सर्प दिखता है ऐसे संसार दिखता है विवर्त है ब्रह्म का तो आरंभ कोणाद वैशेषिक न्याय मत में अवयवी का आरंभ होता है कार्य का आरंभ होता है आरब्ध और ये कार्य सत है असत इसमें भी है सत है कार्य विद्यमान दिखता है सत है और बौद्ध लोग तो असत है है ही नहीं पहले तो असदवाइदम दमग्र आसित कहा गया तो अनभिव्यक्तों को असत शब्द से कहा गया सदैव समिदम अग्रे श्रुति कहती है सद ब्रह्म है तो अभी भी कार्य सत है सत कारण से उत्पन्न होने के कारण घटो अस्ति पटो अस्ति जलम अस्ति पृथ्वी अस्ति तेजो अस्ति अस्ति अस्ति करके सत सत करके प्रतीत होता है सद अनुगत होकर के जिस प्रकार ताम्र से कोई बनाएंगे भाई जितने बर्तन सो ताम्र तांबे रजत से बनाते तो रजत है सोने से बनाते भूषण तो सुवर्ण है सत कारण से उत्पन्न होने से सौ कार्य सत है कोई कहते पहले असत था असत उत्पन्न हुआ अभी भी कुछ है ही नहीं असत हुआ इत्यादि नाम अनेकेशाम सत पाखंड संख्या का पाखंड बुद्धि विकल्पाना वो भिन्न भिन्न कल्पना करने वाले श्रुति अर्थ को अनादर करके अपने बुद्धि से कल्पना करने वाले कितने कल्पना कर लेंगे सत संख्या का संख्या का बहुत सौ सौ कहने से बहुत ही अनन्य का बुद्धि विकल्प का ये विषय है ये इसके ऊपर विचार किया जाता है तो विभिन्न प्रकार का कल्पना करते हैं ये तो दो चार पांच का नाम ले लिया इसी प्रकार बहुत उसमें कल्पना है किम संज्ञकोयम वृक्ष अनवध्याय से गोचर कश्चित वृक्ष दृष्ट तथा अयमपि वृक्ष बहुत ही है तो अभी भी संचित ने वृक्ष देखें तो ये वृक्ष का नाम क्या क्या है किस वृक्ष है हम लोग बहुत को मालूम नहीं है जो लोग पहले जानते थे उनमें भी कोई कोई वृक्ष है वो पता नहीं क्या वृक्ष है वृक्ष थे तो सब देखते हैं पता नहीं क्या है कि क्या नाम है कुछ जन देखे थे तो ये वृक्ष का क्या नाम है वो आम कटहल आदि पीपल बड़ ऐसे कुछ तो जानते हैं जंगल में देखो कितने वृक्ष है जो जानते हैं पहले जानते लोग लोग आयुर्वेद शास्त्र वैद्य लोग को जानते हैं जड़ी बूटी को देख कर पहचान करके लाकर औषध बनाते अभी भी जानने वाले होते हैं किंतु बहुत लोग नहीं जानते किम संज्ञक कह का संज्ञास्य वृक्ष से किम संज्ञक ये वृक्ष क्या नाम इसका है अनध्यवसाय गोचर अध्यवसाय निश्चय का विषय है अध्यवसाय गोचर न अन अध्यवसाय गोचर इति अनध्यवसाय गोचर निश्चय का नहीं विषय नहीं होता है अनिश्चय होता है कहीं वृक्ष दिखा गया तथा अयम ये भी इस प्रकार ये संसार वृक्ष है इसका क्या नाम है क्या चीज है इसके ऊपर कोई निश्चय नहीं होता है और उस ये वृक्ष के साम्य ये संसार के साथ समता साम्यांतरमा साम तत्व जिज्ञासु वीर अनिर्धारित इदं तत्व जैसे वृक्ष का निश्चय नहीं कर पाते बड़े-बड़े जानने वाले भी पता नहीं क्या वृक्ष है इसी प्रकार यहाँ तत्व जी सामान्य लोग तो नहीं जानते हम लोग तो बहुत पेड़ जंगल में नहीं जानते जानने वाले में भी कुछ-कुछ ऐसे है क्योंकि सब प्रकार वृक्ष सब स्थान में नहीं होता है कोई वृक्ष कहाँ होता अन्यत्र नहीं होता है कोई नाम सुना होगा और आकर यहाँ देखते चीर के के पेड़ है देवदार पेड़ कुछ ऊपर है नाम सुना हुआ तो भी पता नहीं कौन से कोई अन्यतर वृक्ष है या नहीं है विभिन्न प्रकार के वृक्ष होते हैं नहीं जानते हैं जानने वाले भी सब नहीं जान पाते हैं इसी प्रकार यहाँ तत्व जिज्ञासु भी अनिर्धारित दन तत्व सामान्य लोगों को क्या ज्ञान है हो जो तत्व जानना चाहते तत्व विजिज्ञासु तत्व को जानना जो चाहते हैं वो जानने के लिए प्रयास करते हैं कितने जन्म के पुण्य से अभी फिर जिज्ञासा होकर के प्रयत्न करते तो भी अनिर्धारित इदं तत्व अनिर्धारितम इदं तत्वम यस्य संसार विषय का वास्तव तत्व क्या है निर्धारण नहीं होता कार्य तो दिखता है है क्या वास्तव शब्द से सुन लेते श्रुति से सदब्रह्म तो भी पता नहीं चलता है सदब्रह्म कहाँ है कौन है अपना स्वरूप ऐसे निश्चय नहीं होता है वेदांत निर्धारित पर ब्रह्म मूल सार तो फिर इसका निश्चय नहीं होगा तो ज्ञान नहीं होगा तो मोक्ष कैसे होगा तो ये मूल इसका सार है परब्रह्म है कैसे निश्चय होगा वेदांत निर्धारित वेदांत प्रमाण से निश्चित होता है परब्रह्म रूप मूल मूलम सार यस्य संसार वृक्ष का सार ही ब्रह्म ही है और सब मिथ्या अध्यस्त है सर्वम खलु इदम ब्रह्म ब्रह्म ही तत्व वास्तव सो अध्यस्त है अविद्या काम कर्म अव्यक्त बीज प्रभव अविद्या काम कर्म अविद्या मूल कारण काम कर्म यह अव्यक्त सूक्ष्म रूप से बीज से उत्पन्न होता है ये जगत अपर ब्रह्म विज्ञान क्रिया शक्ति द्वयात्मक गर्भांकुर बीज से अंकुर होकर वृक्ष होता है यहाँ अपर ब्रह्म पर ब्रह्म से विलक्षण अपर ब्रह्म है वह अपर ब्रह्म में दो विज्ञान क्रिया शक्ति द्वयात्मक हिरण्यगर्भ है जो विज्ञान सत्य और क्रिया शक्ति अपने अंतकण में ज्ञान शक्ति है प्राण में क्रिया शक्ति है तो हिरण्यगर्भ को समष्टि प्राण समष्टि बुद्धि ऐसे भी कहते हैं बुद्धि उपहित है सूक्ष्म शरीर में प्राण और विज्ञान बुद्धि आ गई तदुपहित को कहते तेजस विश्व तेजस पाएंगे व्यष्टि में तेजस और समष्टि सूक्ष्म शरीर अभिमान का नाम है हिरण्यगर्भ पहले हिरण्यगर्भ सूक्ष्म शरीर अभिमानी हुआ उसके आगे पंचीकरण होकर के स्थूल प्रपंच बनता है तो अपर ब्रह्म है जो विज्ञान क्रिया शक्ति द्वयात्मक हिरण्यगर्भ अंकुर के समान हुआ हिरण्यगर्भ अंकुरस्य हिरण्यगर्भ जिसका अंकुर तुल्य हुआ ये संसार वृक्ष का टीका में दिया है अप्रब्रह्मणो विज्ञान क्रिया शक्ति द्वयात्मको हिरण्यगर्भ प्रथम अवस्था भेद अंकुर अस्यति ततोत अपर ब्रह्मण विज्ञान क्रिया शक्ति द्वयात्मक हिरण्यगर्भ प्रथम अवस्था हाँ कार्य ब्रह्म का प्रथम अवस्था है कार्य ब्रह्म है कार्य उपाधि का अपर ब्रह्म का प्रथम ये अंकुर है विज्ञान क्रिया शक्ति द्वयात्मक हिरण्यगर्भ है प्रथम अवस्था विशेष से अंकुर जैसे अंकुर संसार वृक्ष से तथोत हिरण्यगर्भ अंकुर आगे दिया सर्व प्राणी लिंग भेद स्कंध तत्तृष्णा जलाशय को उद्भूत दर्पो बुद्धिन्द्र विषय प्रवालांकुर श्रुति स्मृति न्याय उपदेश पलासो यज्ञ दान तपादि अनेक क्रिया पुष्प सुख दुख वेदना वेदना अनेक रस सर्व प्राणी लिंग भेद स्कंध सर्व प्राणी प्राणियों का लिंग शरीर विशेष का समुदाय स्कंद के समान वृक्ष में स्कंध होता है पहले उसके बाद शाखा तृष्णा जलाशय जलाशेक वृक्ष बीज होता अंकुर होता है जल सेचन करते जो वृक्ष बढ़ता है संसार वृक्ष को बढ़ाने के लिए तृष्णा है जल तृष्णा जल से संसार वृक्ष की वृद्धि होती है जितने जितने तृष्णा है इतने संसार दृढ़ होता है जड़ मूल भी नीचे जाता है ऊपर भी बढ़ता है तृष्णा समाप्त हो तो जल नहीं डाले तो सूख जाएगा तृष्णा ही बढ़ाने वाली संसार को संसार निवृत्ति कोई करना चाहता है तो उसमें तृष्णा करते रहे इच्छा करते रहे संसार की निवृत्ति होगी वृक्ष बढ़ेगा बढ़ेगा बढ़ाना चाहते तो तृष्णा करते रहो इच्छा करते रहो और संसार वृक्ष समाप्त करना है तो तृष्णा को छोड़ो जल डालना छोड़ दो तो वृक्ष सूखने लग जाएगा यहाँ कोई वृष्टि होने वाले नहीं है वहाँ तो बाहर वृक्ष है वृष्टि होती पानी नहीं देने पर भी ये तृष्णा अपनी तृष्णा ही बढ़ाने वाली जलाशय का उसे जलाशय से क्या होता है उद्भूत दर्प उसका गर्भ उद्धृत प्रकट होता है ऊंचा बढ़ता है उद्भूत दर्प गर्भ है ऊंचा ऊंचा हो जाता है तृष्णा होने पर पेड़ बढ़ जाता है वर्षा समय पेड़ बहुत बढ़ जाते हैं गर्मी में पता पता थोड़ा कम हुआ जड़ गया फिर वर्षा थोड़ा निकला कम कोमल कोमल वर्षा होने पर बढ़ जाता है इधर पर ऊंचाई बढ़ जाती है बुद्धि विषय प्रवालांकुर बुद्धि इंद्र का विषय है रूपरस शब्द आदि है और प्रवालांकुर प्रवालांकुर होता है छोटे-छोटे पत्ते पहले बीज संकुर निकला था हिरण्यगर्भ अंकुर यहाँ प्रवाला अंकुर वृक्ष में कोमल पत्ते होते छोटे-छोटे बहुत कोमल छोटे-छोटे पत्ता फिर बड़ा होता है वो विषय प्रवालांकुर टीका में दिया है बुद्धि इंद्रियाणां विषयः ज्ञान इंद्र है उनका विषय शब्द आदि है शब्द आदि हो गए प्रबालांकुरा प्रबालांकुर का अर्थ किसल यानी किसल कहते कोमल पत्ते प्रबालांकुर अस्य संसार वृक्ष का स संसार वृक्ष हो गया बुद्धि इंद्र विषय प्रबालांकुर आगे श्रुति स्मृति न्याय विद्यु उपदेश पलाश ऐसे पत्ते भी बड़े-बड़े पत्ते प्रबाल तो छोटे था अब बड़े-बड़े पत्ते हो गए वो पता कौन श्रुति स्मृति न्याय विद्या उपदेश श्रुति स्मृति न्याय विभिन्न विद्या उपदेश ये पत्ते पर हो गए संसार वृक्ष में श्रुत्यादिनी पलासानी पत्राणि अस्य पलासे पत्र ये श्रुति स्मृति न्याय विद्या उपदेश पत्र है वृक्ष में पत्ते आ गए पत्ते होने पर फल लगेगा फल में बड़े मीठा मधुर रस मिले निकलेगा यज्ञ दान तपाद अनेक क्रिया पुष्प बड़े सुंदर पुष्प है पुष्प क्या पते हो गए यज्ञ दान तप आदि अनेक क्रिया कर्म सुंदर पुष्प है पुष्प आ जाते हैं पुष्प से सुगंध भी निकलती है और कुछ ऐसे ही पुष्प भी है जो पाप कर्म वो भी छोड़े कुछ पुष्प रहते हैं वो भी नीचे लेने के लिए नरक लेने के वो भी संसार वृक्ष को बढ़ाने वाले और कोई कहीं पुष्प बहुत सुंदर है फल तो बहुत कड़वा कटा लगेगा पुष्प नीम के पुष्प आने पर बड़ी सुगंध है और कोई ऐसे फल है पुष्प तब सुगंध फल लगने के बाद खटा लगेगा खटा तो खटा रहेगा कोई मीठा होता है कोई खटा होता है तो सुंदर पत्र है श्रुत्यादिनी तो सुख दुख पानी वेदना है वो अनेक रसवस्य अनेक रस इसमें है मधुर अम्ल कटु कसा है कितने रस है सुख दुख सुख दुख में अनेक भेद है सुख में दुख में प्राणियों की जो वेदना है कष्ट अनेक वेदना है अनेक रस इसमें फल में रस फल तृष्णेव सलिलावसेक हई सलिला जल सेचन फिर पेड़ फल लगने पर फल की जो तृष्णा है कर्म फल की इच्छा है वो सलिला जल सेचन फिर थोड़ा पानी पुष्प फल लग गया फिर वर्षा थोड़ी हो गई पानी मिल गया मजबूत हो जाता है तेन प्ररूढ़ानी कर्म वासना आदि ने सात्विक आदि भावेन मिश्रितानि भाष्य में दिया प्राणी उपजीव्य अनंत फल प्राणी के उपजीव जो आश्रय करते अनंत फल अनंतानि फलानि यस्मिन वृक्षे यस्य संसार वृक्ष में फल है कितने फल है अनंत अनंत क्यों है कि प्राणी भी अनंत है नहीं तो कम फल लग गया तो झगड़ा करेंगे <laughs> कोई फल नहीं कह पाए झगड़ा करेंगे इसे फल भी भगवान ने बहुत बनाए अनंत फल ये फल क्या है प्राणी उपजीव वही कर्म फल है तत्त तृष्णा सलिलावश्यक प्रौढ़ जड़ीकृत दृढ़ बद्धमल तत्त फल तृष्णा के कारण क्या होता है सलिल हो गया जल जल सेचन से प्रौढ़ बढ़ जाता है जड़ीकृत जड़ हो जाता है दृढ़ बद्धमूल ये वटवृक्ष देखा होगा शाखा में से भी जड़ निकलता है नीचे आकर के फिर जमीन में रह जाता है शाखा फैल जाती उधर उधर ऊपर से नीचे जा कर के पकड़ लिया ऐ जड़ हो जाता है जितने फैलता है जड़ इतने बढ़ता है यह तो मुख्य मुख्य है कि शाखा उधर गया वहां भी एक ऊपर से आकर नीचे लग जाए फिर जड़ हो जाता है जटी प्ररूढ़ जड़ी जड़ीकृत जड़ हो जाता है ये संसार विषय से बढ़ता है बटर विषय के समान बहुत बड़े-बड़े बटर विषय है फलतृष्णेव सलिलाव से तेन प्ररूढ़ानी रूर प्रादुर्भाव होकर मजबूत हो जाते हैं कर्म वासना अधिनी फिर फल तृष्णा फिर आगे कर्म कर्म करेंगे कर्म की इच्छा होगी फल प्राप्त करने से कर्म करना फिर सात्विक आदि भावे न मिश्री कितानी सात्विक राजस्थान तामस अलग प्रकार हो इच्छा ज्ञान वासना सब है दृढ़ बंधनानि अवांतर मूलानि अस्य बटवृक्षसीति ततोत दृढ़ बंधन है अवांतर मूल मुख्य मूलते के मुख्य बाकी सौ शाखा से नीचे निकलते वो तृष्णा होने पर फिर बढ़ करके बढ़ जाते उसको रखने के लिए ऐसे शाखा जितने दूर फैल जाने पर भी वो कैसे वृक्ष है यहाँ यदि लंबा चल जाए तो शाखा टूट जाएगी वो वहाँ लंबा चलेगा तो वहाँ भी बीच बीच में मूल हो गया उसको मजबूत कर देगा जितने शाखाएं फैलेगी पहले कभी देखा होगा तो वृक्ष यहाँ शाखा कहीं दूर कितने दूर तक बहुत बाद में पता नहीं चलेगा मुख्य कौन मूल है शाखा से निकलता है वो भी बड़ा बड़ा हो जाता है आगे दृढ़वंत विशेष वृषस बद्धमूल सत्य नाम आदि सप्तलोक ब्रह्मादि भूत पक्षीकृत नीड़ सत्य नाम है भूर मह स मह जन तप सत्य सत्य नाम आदि सात लोग ऊपर है ब्रह्मादि भूत पक्षीकृत निरह ब्रह्मादि भूत उसमें है भूत पक्षी के समान उन सब नीड़ बनाए अंत में सत्य में ब्रह्मलोक है भूलोक के सब यहाँ मरते है भूव अंतरिक्ष में स्वर्ग है मह जन तपस्या अलग-अलग सब लोक है से विभिन्न प्रकार भूत है पक्षी सब नीड़ बना कर वास स्थान बना कर के बैठे हैं जैसे यहाँ है ऐसे स्वर्ग में अंतरिक्ष में मह जन तप ब्रह्मलोक तक प्राणी सुख दुख उद्भूत हर्ष शोक जात नृत्य गीत वादित वेलित आस्फोटित हसित आकृष्ट रुदित हा हा मुंस मुंस इत्यादि अनेक शब्दकृत तुमुलीभूत महारव पेड़ में पक्षी फल खाते हैं शांत बैठ करके सब चिल्लाते रहते हैं बड़े खुश होकर के मीठा खा कर खुश होते खट्टा भी खा कर खुश होते कुछ बंदर फंदर फेंकते भी रहते चलांग लगाते हैं प्राणी शांति से कहा प्राणी सुख दुख उद्भूत मुख्य उसमें सुख दुख से उद्भूत होता हर्ष सुख सुख से हर्ष दुख से शोक सुख जब हर्ष होगा हर्ष से चुपचाप रहना नहीं हर्ष से जात होता नृत्य गीत वादित रक्षवलित आस्फुटित हसित जहाँ हर्ष हो गया तो मैं छलांग लगाने लगे हम खुश होकर के कोई नाचते हैं जातन नित्य गीता बोलने लगे गीता ही कुछ क्या-क्या सब गीता बोले नृत्य गीता वादित बाजा बजाने लगे छेलित तो अकेली उसे कीड़ा आस्फोटित होता भुजाबंध ऐसे करके भुजाबंध करके लड़ाई करते बड़े खुश होकर के हां मिल गया बच्चे कैसे खुश होकर नाचते हैं और खुश होकर के ओके उसे फिर कहीं-कहीं हंसते तो हंसते जोर से हां हां हा करके इतने हंसते हैं बड़े जोर से फिर कोई किसको खींचता है कोई किसको धक्का देता है फिर कोई गिर पड़ता है रोता है दुख मिलेगा तो हाँ रुका कोई मर गया तो बड़ा रोता है हां हां हां मुंचा मुंचा कोई कोई किसको पिटाई करता है हां हां करता है छोड़ो छोड़ो मुंचा मुंचा नरक में तो ये शब्द है हाँ हाँ मुंचा मुंचो छोड़े छोड़े अब कभी नहीं गलती नहीं करेंगे आए कहता मुंचा मुंचो इत्यादि ये तो दो तीन नाम लिया कितने नाम ले कितने पक्षी कितने प्रकार शब्द करते हैं पशु पक्षी के साधु लोग भी पचास हो जाते हैं तो कितना हला-गुला करते हैं और पक्षी पशु पुष्प तो उनको कौन सिखाएगा सीखने वाले भी शांत नहीं बैठ पाते हैं साधुओं को चाहिए जितने हो सकता है वाक संयम बिना मतलब नहीं बोलना चाहिए यदि बोले तो इतने ऐसा बोले जिसको बोलते उसको सुनाई पड़े सबको अन्य को विक्षेप नहीं हो इतने जोर से नहीं बोले अन्य को विक्षेप हो आवश्यक अनावश्यक ये शक्ति का दुरुपयोग नहीं करे शब्द बोलने से शक्ति ह्रास होती शक्ति का ह्रास होता है वो बाक संयम करना चाहिए इंद्रिय के समय में ये भी एक बड़ा समय है ये नहीं केवल मुख बंद करके एक दिन मौन रह जाए पांच दिन मौन रह गया इतने मात्र से नहीं हमेशा ही जितने आवश्यक कहना और जितने कम से स्वाभाविक होता है मंत्र पाठ श्लोक करते समय कोई बोलेगा नहीं किंतु बात करते समय झगड़ा करते समय कितने शक्ति आ जाती है हाँ बड़े जोर से बहुत जोर से बोलेंगे और सब लोग बोलेंगे तो अब लगेगा कि हाँ कोई आज साप्ताहिक क्या क्या मार्केट हाँ, हाट हाट लगता है सात सप्ताह में क्या लगता है मेला बाजार हाँ कहीं कहीं इससे लगता है ना एक सप्ताह में एक दिन मंडी बाजार बाजार लगता है हाँ सब आकर है हो जब एक से फिर शाम को चले गए सुबह सुबह कोई नहीं सुबह आकर के लगे मेला लग जाती है बाजार रास्ता में चलते समय कहीं दिखता है बहुत लोग ऐसे ही खाल खोला जाए बैठे कहते ये मेला लग दे सात दिन में एक बार हला गुला बहुत चलते हैं ऐसे साधुओं को थोड़ा सा वाक्साम्य में करना चाहिए ये तो ऐसा संसार में ऐसे करते हैं शब्द करते हाँ हाँ मुझे मुझे हंस हंसने ना नाचने लगे कूदने लगे जोर से बोलने लगे ये अनेक शब्दकृत तुमुलीभूत मारव अनेक शब्द का तो तुमणि होता तो महान रव जिसमें संसार वृक्ष में बहुत शब्द होता रहता है और वेदांत टीका में देखो सप्त सप्तलोकेषु ऊपर सात लोके भूत कौन है ब्रह्मादिन भूतानिव ब्रह्मादि भी भूत है भूतानिव न ही पक्षी के समान जैसे फल खाते पक्षी पेड़ में बैठ करके ये सब सुख दुख अनुभव करते तेई कृतम नीरम यस्मिन पक्षी घोंसला भी बनाते रहते उड़ जाते फिर आ जाते हैं इसी प्रकार ये सब बनाए मरने वाले फिर कहते हैं मेरा ये मेरा घर है ये मेरा है छोड़कर जाना है कि मेरे मेरे करते हैं अपने नीड के साथ इतने तादात में है आगे भाष्य में वेदांत विहित ब्रह्मात्म दर्शन असंग शास्त्र कृत उच्छेद ये संसार वृक्ष वृक्ष का उच्छेद होता है वृक्ष उच्छेदनाद तो ये तो वृक्ष बढ़ गया उसका उच्छेद कैसे होगा उच्छेद करने के लिए एक ही अस्त्र है असंग शस्त्र ये कुठारा खड़ग आदि कोई काम नहीं करेंगे असंग शस्त्र है असंग शस्त्र कैसे हो कहां से लाएंगे असंग शस्त्र वेदांत विहित वेदांत प्रमाण से जो बोधित होता है ब्रह्मात्म दर्शन ब्रह्मात्म ब्रह्म आत्मा की एकता का दर्शन ज्ञान वेदांत प्रमाण से बोधित विहित कहते तो वेदांत प्रमाण से बोधित तो, ज्ञापित तो, तत्वमसि आदि महावाक्य से अहम अस्मि ब्रह्म जो ब्रह्मात्म दर्शन ये ज्ञान ही असंग सत्र ज्ञान जिसको हो गया आत्मा तो असंग है ही अज्ञान के कारण संसार सुख सो आरोप करके मैं मैं करके मैं सुखी मैं दुखी मैं मनुष्य मैं को ये आरोप करते हैं जो ज्ञान हो जाता है आत्मस्वरूप असंग है उसके साथ कोई संबंध है ही नहीं मरुभ में मरीचिका दिखते पानी सच करके दौड़ रहे समझ ले मरुभ में है उसके साथ पानी का कोई संबंध है ही नहीं ज्ञान होते ही मालूम हो गया असंग है जिस प्रकार आकाश सर्वव्यापक है किसके साथ उसका संबंध कुछ नहीं सूर्य प्रकाश से स्वप्रकाशित है सूर्य प्रकाश से दूषित नहीं इसी प्रकार आत्मा असंग है अधिष्ठान वो वेदांत प्रमाण से ज्ञान होता अहम अस्मि ब्रह्म ये सारे प्रपंच दृश्य जितने ज्ञेय पदार्थ है सब स्वप्न प्रपंच के समान मिथ्या है और दृश्य जो कुछ जाना जाता है जिसको हम सोच सकते हैं स्मरण करते कुछ भी हो कल्पना करते ये सब दृश्य में आ गया जो दृश्य नहीं है सारे दृश्य का साक्षी है सारे दृश्य को प्रकाश करने वाला वो दृग रूप चेतन एक है वो असंग है उसके साथ किसका कोई संबंध नहीं असंग शस्त्र कृतो च असंग न कृत असंग शस्त्र कृत उच्छेद यस्य ये संसार वृक्षा का उच्छेद होता है वो असंग शस्त्र असंग शस्त्रेण दृढ़ ने दृढ़ करके ज्ञान दृढ़ होना चाहिए सामान्य तो ज्ञान होता है बहुत लोग समझ लेते हैं मैं ब्रह्म तुम ब्रह्म बात सरल है किंतु दृढ़ होता है जो संशय विपर्य नष्ट होता है विपरीत भावना देह में अहम बुद्धि है तो विपरीत भावना है तब तो दृढ़ नहीं हुआ बिल्कुल संशय विपर रहित दृढ़ शस्त्र से छेदन होता है ऐसा संसार वृक्ष टीका में प्राणिनाम सुख दुखाभ्याम उद्भूतो हर्ष शोको प्राणियों के सुख दुख से प्रकट होता है हर्ष शोक ताभ्याम यथा जाता जातानि अच्छा ये जो पहला आया कीर्तन नील के आगे प्राणी सुख दुख उद्भूत हर्ष शोक जात तृष्ण नित्य गीता आदि इसका अर्थ सुख दुख से उद्भूत होता है सुख से हर्ष दुख से शोक शोक हुआ ताभ्याम यथा संख्यन जाता आदि हर्ष होने पर नृत्य गीत वादित्र क्षलित आस्फटित आदि हर्षित आदि होता है और दुख होने पर फिर आकृष्ट रुदित हा हा मुंच मुंच इत्यादि यथा संख्य समझ लेना हर्ष से भी शब्द होता है नाचने लगे दुख से भी रोने लगे वो भी शब्द करते हैं शब्द का वो हर्ष होने पर सुख होने से होता है दोनों दोनों प्रकार शब्द में थोड़ा भेद है हर्ष होकर नाच कर खुश होकर नाचते हैं और दुख होने पर रोते रोते हैं हा हा मुच मुच रुदित आदि शब्द शब्द यही रोदन रोदन करते हंसते ते ही तुमली भूत महारव ये सब शब्द करेंगे बहुत व्याकुल हो जाता आकाश तुमली कृत मतलब सारा आकाश तुमुल हो जाता है व्याकुल हो जाता है इतने जैसे युद्ध क्षेत्र में बाजार में लोग इतने होते हैं तो शब्द कर दें बहु शब्द हो जाता है ऐसे ही शब्द होता रहता है महारव तुमलिकृत महारव वेदांत विहित ब्रह्मात्म दर्शन असंग कृत उच्चेद ऐसा संसार वृक्ष अश्वत्थ इसको अश्वत्थ नाम रखा है संसार वृक्ष का नाम अश्वत्थवत काम कर्म वासनायित नित्य प्रचलित स्वभाव अश्वत्थ वृक्ष के है बटन अश्वत्थ हवा नहीं हो तो भी पत्ते हिलते रहते हैं विष्णु भगवान के पास लक्ष्मी तय कितनी और के और एक अलक्ष्मी पत्नी आ गई अलक्ष्मी पत्नी कहती ये स्थान में तो ये सुगंध स्थान में हम नहीं रह सकते जहाँ विपरीत है जहाँ जो अशुद्ध भोजन हो जो निषिद्ध भोजन वहाँ अलक्ष्मी का आवास होता है शुद्ध पवित्र भोजन तो लक्ष्मी का आवास होता है लक्ष्मी जा रहेगी वहाँ लक्ष्मी पाक शुद्ध भोजन है देवता लोग ग्रहण करेंगे और जो निषिद्ध है प्राणियों के हिंसा वगैरह कोई भोजन बनाते हैं अन्य अपवित्र है लक्ष्मी अलक्ष्मी वहाँ रहती है सुबह सुबह उठ करके स्नान करे घर दर साफ करे तो वहाँ अलक्ष्मी नहीं रहेगी वहाँ लक्ष्मी रहेगी अलक्ष्मी कहाँ रहेगी जो लोग सोए हुए हैं लेटे हैं लेटे रहते थोड़ा चाय पी कर फिर सो गए ना तो नहीं करेंगे दस ग्यारह बजे उठेंगे अलक्ष्य ही रहेगी तो भगवान विष्णु को अलक्ष्य ने कहा ये स्थान में तो जहाँ लक्ष्मी रहती है हम यहाँ नहीं रह सकते ये तो ऐसे करते हम चले जाएंगे हम ना यहाँ नहीं रहेंगे तो फिर भगवान के तो कहाँ फिर जाओगे तुम्हारे लिए ये तो लक्ष्मी है ही उसको कहाँ छोड़ेंगे बोले तो ये तो हम नहीं रह सकते ऐसा होगा तो हम कैसे रहेंगे तो फिर भगवान लेकर अश्वत्थ वृक्ष के पास ही बांध दिया कोई ऋषि थे उन्होंने वहां दे दिया तो अश्वत्थ वृक्ष के अलक्ष्य में है इसलिए पवन नहीं हो तो ये पत्ते हिलते रहे फटाफट होता है देखो कभी जहाँ अश्वत्थ पेड़ है ना वो हमेशा ही पत्ते हिलते रहेंगे हमेशा उसके लिए नित्य प्रचलित स्वभाव अश्वत्थ के समान जैसे अश्वत्थ वृक्ष में पत्ते हिलते रहते वायु के बिना अलक्ष्मी है वहाँ हिलते रहते हैं इसी प्रकार ये काम कर्म वातेरित नित्य प्रचलित स्वभाव ये संसार विच यहाँ वायु है काम और कर्म वासना और कर्म ये वायु है वायु से प्रेरित होकर नित्य प्रचलित स्वभाव है संसार वृक्ष हिलता ही रहता है निरंतर इसलिए अश्वत्थ वृक्ष के समान अश्वत्थवत अश्वत्थ जैसे वृक्ष हिलता रहता है पते इसी प्रकार संसार वृक्ष काम कर्म रूप वायु से प्रेरित होकर के हमेशा हिलता रहता है ये संसार और कहीं कहेगा अश्वत्थ सोपि था थाता इतने निश्चय नास्ति ये काल को रहेगा ऐसा निश्चय नहीं है अश्वत्थ गीता भाष्य में या अश्वत्थ वृक्ष है काल को ऐसा रहेगा ऐसा निश्चय नहीं है अनित्य है सनातन अनादि काल से है क्यों जैसे दिखता है ऐसे रहेगा कोई निश्चय नहीं है कभी संसार परिवर्तन होता है संसार रहने पर स्वयं चले जाते हैं मर जाता है इसे अश्वत्थ के समान है ये संसार वृक्ष स्वर्ग नरक तिर्यक प्रेतादि भी शाखा भी अभाषाक शाखा नीचे फैली हुई वो स्वर्ग नरक स्वर्ग है नरक तिर्यक तिर्यक योनि पशु पक्षी आदि जिनके मेरुदंड टेढ़ा रहता है ऐसे रहेगा पशु पक्षी का मनुष्य का ऐसा नहीं रहता मनुष्य ऐसा रहता है जिनका संस्कार तिर्यक योनि का उनके मेरुदंड सीधा नहीं होगा ऐसा होगा धीरे-धीरे ऐसा हो जाता है ऐसे तिर्यक योनि का संस्कार तो होगा सो होगा किंतु संस्कार छोड़ना तेरे नहीं है ऐसा नहीं रहना ऐसा नहीं करना मृदंग को सीधा करना जिनकी रुचि उसमें फिर आगे नहीं तो जाना पड़ेगा ऐसे को बैठेंगे ना तो भगवान कहे जाओ को बन जाओ पशु पक्षी कैसा रहता है मनुष्य कैसा रहता है ये सब भी होनी है का प्रेत कुछ प्रेत आदि होते हैं अतृप्त है मानने के बाद ऐसा अपमृत्यु से चल जाते भूत प्रेत प्रेत बन कर रहेंगे फिर उनके लिए कर्म आदि नहीं होता तो अतृप्त रहते हैं भूत प्रेत आदि होते हैं वो प्रेत योनि में जो जाते हैं उनको क्षुत पिपासा बहुत लगती है भूख प्यास भोजन जहाँ अपवित्र मिलेगा वहीं जाकर खाएंगे पवित्र भोजन है तो देवताओं के लिए वहाँ नहीं जाएंगे कली के ये भूत पिशाच आदि का अधिकार होता है झूठे भोजन हुआ अपवित्र भोजन हुआ जो आजकल जो लोग अपवित्र स्नान नहीं करके भोजन बनाते हैं भोजन बनाते समय थोड़ा देखते हैं मीठा कटा ठीक है नमक में ठीक हुआ नहीं जूठा फटा रखते हैं अथवा परसेत समय जुटाई से देते हैं जुटा उसको रखते हैं भोजनालय में अशुद्ध हो वहाँ भूत प्रेतों प्रेतों का प्रवेश होता है तो उसको हमेशा खाते रहते हैं तो भी उनका पेट भरता नहीं ये नए कारण क्या है मुख में सुई जैसे है सुई जैसे है उसमें से खींचेंगे कितने खाएंगे मुखान मुख ऐसे था हम इतने का लेते हैं और यदि मुख ऐसे तो सुई जैसे होगा इंजेक्शन जैसे खींचते हो आएगा तो कितने होगा पाइप शरबत पी देना यदि छोटा पाइप और छोटा इंजेक्शन जैसे वो खींचते रहो इतने इतने बहुत खींचने पर इतने बूंद आएगा इसलिए भूख प्यास रहने के कारण वो क्या करते हैं ये अपवित्र भोजन में तो जाकर बैठते खाना कुछ खाते हैं फिर पेट भरता नहीं तो फिर किसके शरीर में प्रविष्ट होकर खून पीते हैं खून पीते नहीं तो भूख प्यास रहते हैं ये भूख भूत प्रेत का काम है ये सब प्रेत योनि है हुए जीव मनुष्य भी कभी ऐसे होता है प्रेत आदि में योनि में पाप के कारण चल जाता है ये सब शाखा के समान संसार वृक्ष के स्वर्ग नरक तिरक प्रेत आदि भी शाखा भी अभाग शाखा इन सब शाखा नीचे भी शाखा फैल गई सनातन है नित्य है सनातन क्या अनादित्व तो अनादि काल से ज्ञान के बिना नष्ट नहीं होता है चिरम प्रवृत चिर दीर्घ काल से यदस्य संसार वृक्षस मूलम और ये संसार वृक्ष तो दिखता है इतने बड़े संसार दिखता है उसका कोई मूल है कारण है अधिष्ठान है जो मूल है वही ब्रह्म है तदेव ब्रह्म तदेव ब्रह्म यदस्य संसार वृक्षस मूलम तदेव शुक्रम शुक्र शुभ्र है शुद्ध है ज्योतिष्मत प्रकाश वाला है स्वयं प्रकाश चैतन्य आत्म ज्योति स्वभाव ज्योति का तो कोई आलोक नहीं है गर्मी जैसे अग्नि लगे ऐसा नहीं है चैतनात्मक ज्योति ज्योति प्रकाश सुन सुन कर सब लोग तो कहते ध्यान में बैठेंगे बहुत आलोक दिखेगा सूर्य से भी बहुत आलोक दिखेगा कभी कभी थोड़ा आलोक दिख जाता है खुश होता है कि आत्मदर्शन हो गया नहीं तो होने वाला है वो आलोक नहीं ज्योति ज्योति है तो चैतन्य आत्म ज्ञान रूप ज्योति है ज्योति स्वभाव तदेव ब्रह्म वही ब्रह्म है सर्व महत्वात तो ब्रह्म शब्द का आते महत ब्रह्म धातु से बनता है महत्तम सबसे महत देश काल वस्तु परिचय रहित सर्वव्यापक ब्रह्म है तदेव अमृतम वही अमृत है अविनाशी स्वभावम उच्यते अविनाश अविनाश स्व अविनाश स्वभाव से इसका स्वभाव है विनाश नहीं होता है कहते थे सत्यत्वाद क्योंकि सत्य है जो सत्य उसका विनाश नहीं होगा तीनों काल में एक रूप में रहेगा तो सत्य होगा जो कभी कुछ परिवर्तन हो जाता है वो सत्य है ही नहीं सत्य सर्वे काल तीन तीनों काल में एक रूप रहता है परिवर्तन नहीं होता नष्ट नहीं होता है ये ब्रह्म असत्य है बाकी सब मिथ्या है सब कल्पित है वाचारंभण विकार नाम देयम अनृतम अन्यत अतोमर्त्यम एक ब्रह्म है अधिष्ठान उसको छोड़कर बाकी जितने वाणी का आलंबन है शब्द प्रयोग करते पृथ्वी जल पर्वत समुद्र आदि शब्द से कहा जाता है विकार कार्य नाम ध्येयम नाम ध्येयम मतलब नाम मात्र नाम केवल शब्द ही अनृतम मिथ्या है अन्यत जे ब्रह्म को छोड़ के बाकी जितने सब मिथ्या है शब्द से प्रयोग करते दिखता है व्यवहार होता है जिस प्रकार स्वप्न में स्वप्न में प्रपंच सब दिखता है सत्य वस्तु तो नहीं अतो मर्त्यम स्वविनाशी है मिथ्या है तस्मिन परमार्थ सत्य ब्रह्मणि लोका ये ब्रह्म में तस्मिन लोका सीता सर्वे उसी ब्रह्म में सारा सारे लोग आश्रित है तस्मिन लोकाश्रिता सर्वे थे कश्चन तदुनात्यति कोई उसको अतिक्रमण नहीं कर सकता है सम आश्रित उसमें तस्मिन परमार्थ सत्य ब्रह्मणि परमार्थ सत्य रूप ब्रह्म में परमार्थ सत्य से ले कहते व्यवहार काल में ये जगत को भी सत्य कह देते हैं राज्य में सर्प दिखता है उसको सत्य नहीं कहते प्रातिभाषिक मिथ्या कहते हैं किंतु रज्जु को क्या कहते सत्य है वस्तुतः तो व्यवहार काल में जितने प्रपंच दिखता है सूर्य चंद्र पर्वत समुद्र रज्जु सब मिथ्या है तो इसको व्यावहारिक सत्य कह देते नाम देते हैं परमार्थ सत्य ब्रह्म जिसका कभी बाध नहीं होता व्यवहार व्यावहारिक प्रपंच का बाध व्यवहार काल में नहीं होता है किंतु ब्रह्म ज्ञान होने से बाधित तो हो जाएगा परमार्थ सत्य ब्रह्म है उसमें लोकाशिता सर्वे सारे लोग गंधर्व नगर मरिचुदक माया समा सारे लोग फिर किस प्रकार जैसे गंधर्व नगर बादल में दिखता है मरीचोदक मरुभ में जल दिखता है माया जादूगर कुछ दिखा देता है ये इसी प्रकार सारे लोग है जैसे स्वप्न प्रपंच दिखता है नयवन पर भी इसी प्रकार परमार्थ दशना अभाव अवगमान अवगमना परमार्थ दशना अभाव अवगमना परमार्थ परमार्थ दशना अभाव से ही इनका ज्ञान होता है परमार्थ दशनाभाव अभाव अवगमन अवगमनम येषाम ये सब जितने सब लोक है परमार्थ दर्शना अभाव के कारण इनका ज्ञान होता है इस रज्जु के अज्ञान से ही सर्प दिखता है इसी प्रकार परमार्थ ब्रह्म दर्शन नहीं अज्ञान के कारण ही ये सब लोक दिखता अवगमनम शाम परमार्थ न अवगम अवगम दर्शनाभावेन अवगमनम येषाम परमार्थ दर्शनाभाव के कारण जिनका ज्ञान होता है सब लोग सीता सर्वे आश्रित है सब सर्वे समस्त सारे उत्पत्ति स्थिति लय कभी उत्पन्न होते कभी स्थिति कभी लय क्योंकि सब आश्रित कब है उत्पत्ति काल में से उत्पन्न स्थिति काल में उसमें स्थित लय हुए उसमें प्रलय हुए प्रलय काल में लोग रहते हैं सब सूक्ष्म रूप से कारण रूप से रहते हैं तदुनाति नातिति कश्चन तद ब्रह्म को न अतिति न अतिवर्तते जिस प्रकार घट जब तक मिट्टी में आश्रित होकर मिट्टी के बिना घट नहीं रहता है सुवर्ण से बना गया भूषण सुवर्ण में ही सुवर्ण को आश्रित ही रहता है इसी प्रकार न अति वर्तते मृदा आदि मेव घटादि जैसे घटाधिकार्य कार्य मिट्टी को छोड़ करके कहीं रह जाएगा ऐसा नहीं उपादान कारण में ही रहेगा उपादान कारण के बिना नहीं रह सकता है इसी प्रकार ब्रह्म के बिना कोई पदार्थ नहीं सत्य के बिना सो असत हो जाएगा कोई उसको अतिक्रमण नहीं कर सकता है सत को छोड़कर नहीं रह सकता है कश्चन कश्चिदपि विकार कोई भी कार्य शुद्धत ब्रह्म सदरूप ब्रह्म के बिना नहीं रह सकता ब्रह्म को छोड़ करके सदरूप ब्रह्म अनुगत है जैसे मिट्टी सब घट में आदि में अनुगत है सुवर्ण सारे भूषण में है इस प्रकार सद ब्रह्म सारे कार्य में अनुगत इसलिए अस्थि अस्थि कर भान होता है घटो अस्थि पटो अस्थि जलम अस्थि पृथ्वी अस्थि आकाशम अस्थि अस्थि अति करके सदरूप ब्रह्म एतद वेतत यमराज जी कहते नचिकेता को तत एतद एत यही ब्रह्म तत हुई जो तुमने पूछा था जिसके विषय में मरने के बाद संशय अस्तित्व के नायम अस्तिति कोई कहते नहीं है और अन्यत्र धर्मात अन्यत्र अधर्मात करे पूछा था यही ब्रह्म है सारे संसार जगत का अधिष्ठान एक अद्वितीय तत्व है वही पारमार्थिक सत्य है वही है ब्रह्म उसका जन्म मरण है ही नहीं देहादि सब के उपाधि के कारण नाना रूप से दिखता अद्वितीय है आगे कार्य से शून्यता पर्यंत नष्टस्य असत्वपूर्वकमेव जन्म तत्व नास्ति मूलमिति संकते अभी कार्य जब नष्ट हो जाता है कार्य नष्ट हो गया तो रहा ही नहीं कुछ समाप्त हो गया कार्य नष्ट हुआ तो क्या रहता है पट जल गया तो राख बन गया घट को तोड़ते चूर्ण हो गया रहा ही नहीं कार्य से शून्यता पर्यंत नष्ट कार्य नष्ट होता है शून्य हो गया फिर कुछ रहा ही नहीं बड़े मकान दिखता है तोड़ दिया फिर इधर-उधर हो गया बाद में कुछ नहीं रहा खाली हो गया बड़े पेड़ खड़ा है काट दिया फिर लकड़ी पड़ी कुछ जला दिया पता पता चले गए बाकी खाली हो गया शून्य हो गया कार्य से नष्ट से शून्यता पर्यंत नष्ट शून्य होने तक नष्ट हो गया शून्य हो गया कुछ रहा नहीं कार्य जैसे नष्ट हो गया प्रलय काल में सारा संसार नष्ट हो जाएगा फिर सृष्टि काल में क्या होगा शून्य हो गया फिर असत से उत्पन्न होगा श्रुति हुई कहते असदेव इदम थी असत से तत्व सद अजायत असत से सत की उत्पत्ति ये बौद्ध लोग कहते हैं असत से कार्य की उत्पत्ति होती है नानुपमृद्य प्रादुर्भावात अपमर्दन नष्ट नहीं करके कार्य नहीं होता है बीज संकुर होता है बीज रहते रहते अंकुर होता है बीज का नाश होने पर अंकुर होगा जो बीज का आकार दिखता है उस समय बीज नहीं रहा नष्ट हो गया बीज नष्ट होगा तो अंकुर बनेगा बीज जैसे जैसे कैसा रहेगा तो अंकुर नहीं बनेगा तो वीर्य नाश होने पर अंकुर बना तो किससे बना अंकुर शून्य से बना अभाव से कार्य की उत्पत्ति हो कहते हैं ये शून्य से तो नष्ट हो जाएगा तो शून्य हो गया फिर शून्य से उत्पन्न होगा असत से सत की उत्पत्ति वो कहते हैं तो कार्य से शून्यता परिणत नश्य से असत्व पूर्व में केवल जन्म तो जन्म के पहले असत सृष्टि के पहले कुछ नहीं था असत से उत्पत्ति हुई असत से कार्य बना पहले नहीं था असत से कार्य असत पूर्वक में जन्म तत्व नास्ति मूलम तो फिर मूल क्या होगा पहले कुछ नहीं था असत से आकाश आदि की उत्पत्ति होगी उसके मूल कुछ है ही नहीं श्रुति भी कहती है आपकी असदैव इदमग्रासी पहले असत था तत सत जाए तो अर्थात ये जगत तो उत्पत्ति के पहले कुछ था ही नहीं तो शून्य से उत्पन्न हुआ मूल कहाँ रहा शून्य से उत्पन्न हुआ तो मूल कहाँ तत्व तो नास्ति मूलम क्या कोई मूल है ही नहीं ऐसा शंका करते यद विज्ञानात अमृता भवन्ति उच्यते जगत मूलम तदेव नास्ति ब्रह्म असदविदम निश्रुतमिति जिसके ज्ञान से अमृत हो जाते हैं इति उच्यते श्रुति में कहा जाता है जिसके ज्ञान से मुक्त हो जाते हैं अमृत हो जाते हैं अमर धर्म को प्राप्त कर लेते किसके ज्ञान से जग, जगत मूलम तदेव नास्ति ब्रह्म जो जगत का मूल आप कहते हो जगत का मूल ब्रह्म वो है ही नहीं कहाँ जगत का मूल ब्रह्म क्या है शब्द से कहते ब्रह्म ब्रह्म कुछ है ही नहीं किसने देखा है तदेव नास्ति ब्रह्म तो फिर जगत कहाँ से बना कहाँ से बना शून्य से बनी गया असस उत्पन्न हुआ कुछ नहीं था असत्य भी विद निषेधम निकल गया क्योंकि बीज नष्ट होने पर अंकुर पेड़ बना शून्य से बनता है यदि तन्न वो ठीक नहीं है टीका में दिया सस विषाणादे रसत समुत्पत्त्य दर्शनात् सत्पूर्वकत्व प्रसिद्धेश्च अस्ति सद्रूपम वस्तु जगत मूलम तच्च प्राणपद लक्ष्यम प्राण प्रवृत्तिरपि हेतुत्वादित्यर्थम सस्य विषाणादेर असतः सस्य विषाण खरगोश का सिंह नर विषाण मूसक विषाण बंध्यापुत्र वो असत्य की उत्पत्ति होती नहीं समुत्पत्ति दर्शनाद ना तो असत्य की उत्पत्ति होती ना असत्य से किसकी उत्पत्ति होती असत उत्पन्न तो नहीं बंध्यापुत्र उत्पन्न नहीं होता है नर विषाण खर सस्य विषाण से उत्पन्न नहीं होता है किंतु सस्य विषाण से कोई कार्य बन जाएगा बंध्यापुत्र कोई मकान बना देगा या युद्ध करेगा क्या कर सकता है कुछ नहीं असत्य से कुछ उत्पन्न ही नहीं असमुत्पत्ति अदर्शनाद इसलिए जो बनता है का तो प्रसिद्ध है तेल निकालने के तिल क्यों लाते हैं अभाव से कार्य बनता है तो ऐसा पिस लो तेल निकल जाएगा तिल ला करके सरसब ला करके पिसते हैं अभाव से दही बनेगा तो दूध क्यों लाते हो अभाव कहाँ नहीं है दूध के अभाव से दही बनेगा तो अभाव तो ही दूध क्यों लाना है बीज के बाद अंकुर बनता है तो फिर बीज क्यों लाते हो डालने के लिए अभाव से अंकुर बन जाए पेड़ बन जाएगा असत नहीं होता का प्रसिद्ध है कारण होने से कार्य बनेगा कार्य क्यों नहीं बना कारण नहीं है कारण हो तो कार्य बनेगा तंतु नहीं तो पट कैसे बनेगा मिट्टी नहीं तो घट नहीं बनता है प्रसिद्ध है का तो प्रसिद्ध है इसलिए घट बनाने के लिए मिट्टी लाता है कुल्हाड़ा नहीं तो मिट्टी इतने परिश्रम के लाने क्या जरूरत है अभाव से घट बन जाए तो अस्ति सदरूपम वस्तु जगत मूलम इसी प्रकार जैसे कार्य का कारण कोई है सदरूप कारण से कार्य बनता है जगत का मूल सदरूप ब्रह्म है तच प्राणपद लक्ष्यम उसको प्राण शब्द से कह देते हैं शुद्ध ब्रह्म किसी पद का वाच्य नहीं होता है लक्ष्य होता है प्राण पद का लक्ष्य प्राण प्रवृत्ति हेतुत्वाद क्योंकि प्राण अपान जो व्यापार होता है उसका भी हेतु है प्राण प्रवृत्ति का भी हेतु से उसको प्राण पद से कह देते हैं यदिदं किंच जगत सर्वं प्राण एजति निःसृतं महद्भयं वज्रमुद्यतं य एतद्विदुरमृतास्ते भवन्ति यदिदं किंच जगत सर्वं ये सारे जगत प्राणे एजति प्राणे सति एजति निश्रित निकल करके एजरी कंपने प्राण रूप ब्रह्म से ही प्रकट होकर के ये व्यापार विशिष्ट कर होता है ये सारे जगत प्राणे सति एजति प्राणे प्राण ब्रह्म है प्राण पद रूप लक्ष्य ब्रह्म है उससे निश्चित निकल करके प्रकट हो करके सब एजति सारे जगत में चेष्टा क्रिया व्यापार होता है महद भयम वज्रमुद्यतम महद भय का कारण है ये वज्र को उठा कर कोई रखा है और राजा आदि उनको देखकर सब लोग डर करके अपने काम में लगते हैं इसी प्रकार ये महत भय का कारण है परमात्मा यह एतद विदुर अमृतास्ते भवंती इसको जो जान लेते हैं मुक्त हो जाते हैं भय के कारण सब का और उसमें रहने से ही सारे जगत में सब चेष्टा करते हैं आगे मंत्र में बताएंगे ये सूर्य चंद्र वायु यम आदि सब परमात्मा के डर से अपने पर व्यापार करते हैं कोई नियामक है तो भय से जो करते हैं इससे आगे स्पष्ट करेंगे कोई कारण है जिसके कारण सो समर्थ भी अपने अपने व्यापार में लगते हैं वो कारण ब्रह्म है जिससे सारा जगत में सत्ता की प्रतीति होती व्यापार होता है सबका कारण नियामक यह एतद्विदु जिसको साक्षात्कार करते ते अमृता भवन्ति मुक्त हो जाते हैं भाष्य में दिया निश्चितमिति तन्न यदिदं किंच जग सर्वम यत किंचिदेजम जग सर्वम सारे जगत प्राणे प्राणी का तो परस्मिन ब्रह्मणि सति एजति प्राणे सति प्राण ब्रह्म है प्राण ब्रह्म रहते ही एजरी कंपने कंपते कंपते मतलब ततएव निश्रितम निर्गतम सत प्रचलित नियम न चेष्टते उसे ब्रह्म से निकल करके ही प्रचलती का था नियम ने चेष्टते नियम से व्यापार विष्ट होता है सारा जगत ऐसे ब्रह्म वो नहीं होगा तो नियत सूर्य का उदय चंद्र उदय समय पर इतने समर्थ होकर के थोड़े कभी लेर विलंब कर देंगे हाँ आज छुट्टी है थोड़ी देर रुक जाओ एक दिन नहीं गया तो क्या हो गया कुछ लोग छुट्टी को मनाते हैं छुट्टी को कैसे मनाना है <laughs> सो कराना उठना नहीं आरती महीने की कोई मतलब नहीं आरती के साथ आठ नौ बजे भोजन के पहले तक उठ जाने से हो जाएगा ऐसे नहीं सूर्य अग्नि इंद्र वरुण यमराज भी मृत्यु धावती वो भी दौड़ते हैं रात है ठंडी है कोई मर गया चुपचाप बैठना नहीं तुरंत भेजो और उसमें विलंब नहीं पूरा पूरा सब अपने कर्म करते हैं ये भय कारण ब्रह्म है ओम सहना भवतु सहनो भुनक्तु